जिस बात से तुम्हें डराया जा रहा है वो तो बहुत ही बईद बात है समझ से बिल्कुल ही दूर